उस लड़की की डिटेल इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद विक्रांत को पता चला कि उस लड़की के पिता मछली पकड़ने का काम करते हैं जबकि अजीब बात ये थी कि उस लड़की की मां चोरी के केस में जेल में बंद थी वो पिछले कई सालों से जेल में सजा काट रही थी उस लड़की की मां के बारे में जानकर अचानक से विक्रांत को रूही की याद आ गई रूही अभी भी लखनऊ पुलिस की कस्टडी में थी उसे अभी भी इंटेरोगेट किया जा रहा है हालांकि लखनऊ पुलिस की तरफ से उसके पैरोल के लिए एप्लीकेशन डाला गया था और जल्द ही उम्मीद थी कि वो जेल से बाहर आ जाएगी इसके साथ ही विक्रांत से डिवीजन चीफ मैडम ने प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्द रूही का केस खत्म करके उसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन की टीम में शामिल कर लेंगे वैसे रूही की स्किल से विक्रांत काफी प्रभावित था और इस वक्त विक्रांत को ऐसा भी लग रहा था कि अगर रूही उसकी टीम में होती तो शायद उसका काम काफी आसान हो जाता ये भी हो सकता था कि रूही की मदद से अब तक विक्रांत इस केस को सॉल्व कर चुका होता जब हर्षित ने देखा कि विक्रांत की नजर कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रहे शब्द चोर पर टिकी हुई है और फिर उसने तुरंत ही अपने लैपटॉप की कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए उस लड़की के बारे में और भी इंफॉर्मेशन जुटाने की कोशिश शुरू कर दी कुछ ही सेकंड बाद उसने विक्रांत को बताया कि उस लड़की की माँ को चोरी के लिए नहीं बल्कि लूटपाट करने के लिए सात साल की सजा दी गई है वो विक्रांत ने कहा लेकिन सिर्फ लूटपाट करने के लिए किसी को सात साल की सजा थोड़ी ना दी जाती है नहीं नहीं आप समझे नहीं हर्षित ने कंप्यूटर को स्क्रीन पर बड़े ध्यान से देखते हुए कहा एक्चुअली उसने एक बिजनेसमैन का मर्डर कर दिया था उसे पॉइजन देकर मार दिया था इस वजह से उसे सात साल की सजा दी गई है पॉइजन कौन सा पॉइजन दिया था विक्रांत ने चौंकते हुए सवाल किया एक मिनट हर्षित फिर से लैपटॉप की स्क्रीन पर देखते हुए कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चलाने लग गया और फिर वो पुलिस की ऑफिशियल फाइल खोलकर उसकी सघन जांच करने लग गया जब उन दोनों ने उस केस की डिटेल को चेक किया तो फिर विक्रांत के साथ ही हर्षित भी दंग रह गया दरअसल उस बिजनेसमैन को मारने के लिए डाइमेथिल थियाडाइन और बेंजो डिओजेपिन नाम के दो केमिकल को मिलाकर यूज किया गया था इस तरह के केमिकल का इस्तेमाल नार्कोटिक्स में किया जाता है दरअसल ये केमिकल कोई सीधी तरह का पॉइजन नहीं है बल्कि ये एक तरह का नशीला पदार्थ है जिसका अधिक सेवन करने से व्यक्ति की मौत हो सकती है लेकिन विक्रांत और हर्षित की हैरानी की वजह ये नहीं थी बल्कि हैरानी की वजह ये थी कि ठीक इसी केमिकल का इस्तेमाल वर्कला बीच पर हुए मर्डर केस में भी किया गया था विक्रांत ने हैरत भरी निगाहों से हर्षित की तरफ देखते हुए कहा ये चेक करो कि इस केस को किसने सॉल्व किया था किसने पता लगाया था कि उस लड़की की मां ने बिजनेसमैन को ये पॉइजन देकर मारा था एक सेकंड एक सेकंड हर्षित ने जवाब दिया और फिर अगले ही पल उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा ओह ओ गॉड ये ये तो अशोकन है सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन ने ही ये केस सॉल्व किया था सर अर्षद के माथे पर पसीना आना शुरू हो गया था उसने तुरंत ही विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर अनुष्का ने ये सारी इन्फॉर्मेशन निकाल कर दी है अब अगर ये अशोकन को बात पता चल गई तो फिर वो अनुष्का के पीछे पड़ जाएगा उसकी जान खतरे में है मैं अशोकन का फोन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ आश्रित ने जवाब दिया आप आप तुरंत अनुष्का को कॉल कीजिए तुरंत कीजिए कॉल आपको विक्रांत अपना सिर हिलाते हुए मोबाइल फोन उठाने के लिए भागा विक्रांत के दिमाग में तुरंत ही कल शाम को मछली मार्केट में हुए इंसिडेंट का ख्याल आ गया कल शाम को जब वो उस लड़की के साथ बात कर रहा था तब उस वक्त वहाँ पर इंस्पेक्टर अशोकन भी मौजूद थे और अशोकन विक्रांत की एक्टिविटी को बड़े ध्यान से देख रहे थे अब अगर उस लड़की की मां को इंस्पेक्टर अशोकन ने ही अरेस्ट किया था तो फिर निश्चित तौर पर अशोकन उस लड़की को भी जानते रहे होंगे और ऐसी सिचुएशन में निश्चित तौर पर अशोकन ने विक्रांत और उस लड़की के बीच हुई बातचीत पर गौर किया होगा और चूंकि अनुष्का भी उस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है ऐसे में अशोकन ने उसको भी नोटिस किया होगा और अब अनुष्का की जान को खतरा हो सकता है अभी थोड़ी देर पहले ही सीनियर ऑफिसर पी के मधु ने बताया था कि इंस्पेक्टर अशोकन वर्कला बीच पर दोनों गुटों के बीच हुई लड़ाई को सुलझाने के लिए गए हुए हैं इसका मतलब कि अभी वो त्रिवेंद्रम पुलिस स्टेशन में हो सकते हैं अनुष्का को खतरे में होने का सोचकर विक्रांत ने अपने फोन में अनुष्का का नंबर डायल किया लेकिन फिर जैसे ही उसने कॉल का बटन दबाया उसके दिमाग में कुछ ख्याल आ गया और फिर वो रुक गया विक्रांत को सोचने लग गया नहीं अचानक से विक्रांत के दिमाग में कुछ आया और उसने अपने सामने पड़े डेस्क पर फोन पटक दिया और खुद चेयर पर बैठ गया सर क्या हुआ अनुष्का की जान खतरे में है आप कॉल कीजिए जल्दी क्या कर रहे हैं इस वक्त हर्षित बहुत घबराया हुआ था विक्रांत को यू फोन रखकर बैठते देख उसे बड़ी कंफ्यूजन हो रही थी सर इंस्पेक्टर अशोकन को ही इस केमिकल के बारे में पता है और उन्होंने ही उसकी माँ को बिजनेसमैन के मर्डर के इल्जाम में अरेस्ट किया था सर इस वक्त सबसे बड़ा सस्पेक्ट वही है अशोक ने ही ये सारा मर्डर किया है आप यकीन करो मेरा हर्षित को लग रहा था कि शायद विक्रांत अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि अशोक ने ही इस मर्डर केस को अंजाम दिया है हम्म, नहीं हर्षित तुम समझे नहीं विक्रांत ने कुछ सोचते हुए कहा तुम खुद ये बताओ तुम्हें लगता है अशोकन अनुष्का को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है मतलब वो अनुष्का को क्यों नुकसान पहुंचाएगा क्यों क्यों नहीं पहुंचाएगा ये बताइए आप हर्षित ने कंफ्यूज होते हुए कहा क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो फिर ये प्रूफ हो जाएगा कि असली कातिल वही है विक्रांत ने को सोचते हुए कहा वो इतना बेवकूफ तो नहीं है अगर इंस्पेक्टर अशोकन लाइट हाउस के गार्ड का बेटा है और अगर उसके फिंगरप्रिंट और सिगरेट के फिल्टर भी हमें मिल गए हैं तो भी हम क्या साबित कर लेंगे कैसे प्रूव करेंगे कि अशोकन ही मर्डरर है हर्षद के पास अब कोई जवाब नहीं था अब जाकर उसे समझ में आया कि विक्रांत इस वक्त अनुष्का को फोन करने से क्यों हिचकिचा रहा था उसने अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहा आपका मतलब अगर वाकई में अशोक ही मर्डर किया है फिर भी वो इस बात को एक्सेप्ट क्यों करेगा हम्म, यही कह रहा हूँ मैं विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अशोकन पहले आर्मी और फिर अब पुलिस की नौकरी कर रहा है उसे पुलिस के काम करने का तरीका अच्छे से पता है वो जानता है कि पुलिस जब तक किसी को मुजरिम नहीं मान सकती जब तक कि वो खुद अपना गुनाह कबूल ना कर ले ऐसे में अशोकन अनुष्का के ऊपर अटैक करके खुद के लिए मुसीबत क्यों खड़ी करेगा विक्रांत ने अपना सिर खुजाते हुए कहा तो अभी हमें जल्द से जल्द दयाकर का पता लगाना होगा लेकिन दयाकर का जिंदा होना बहुत मुश्किल है शायद ही वो अब जिंदा होगा विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा अगर अशोका ने दयाकर का मर्डर करने के बाद उसकी डेड बॉडी और मर्डर करने का वेपन समंदर में फेंक दिया होगा तो फिर हम कभी उसे ढूंढ नहीं पाएंगे हमारे पास अशोकन को कातिल साबित करने का कोई रास्ता ही नहीं रहेगा हर्षित ने अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए कहा लेकिन अशोक निडरता से काम करता है मुझे नहीं लगता कि उसे इस बात का डर होगा कि हमें उसके खिलाफ सबूत मिल जाएगा